दुनिया के तमाम पापों को तुम्हारे शक्ति ने पीस डाला पाप का बदला जो मृत्यु उसका भी तुमने स्वीकार किया और पाप के साथ साथ मृत्यु को भी तुम्हारे शक्ति ने मार डाला तुम्हारे बलिदान ने जमीन और आसमान को भी हिला दिया दुनिया पर आंधी छा गई उसका यही इशारा था कि प्रकाश खत्म हो रहा है दुनिया वालों ने तुमको समझने में भूल की मगर तुमने प्रकट होकर ये साबित कर दिखाया कि तुम ही जीवन और तुम ही पुनरुत्थान हो मसीहा जीवन पुनरुत्थान मसीहा जीवन पुनरुत्थान पाप हमारा उसने उठाया पाप हमारा उसने उठाया अपना ही बलिदान कराया अपना ही बलिदान कराया मरण मार कर विजय मिलाया मरण मार कर विजय मिलाया धन्य प्रभो बलवान धन्य प्रभो बलवान जीवन पुनरुथान मसीहा जीवन पुनरुथान मसीहा जीवन पुनरुथान पत्थर फूटे पत्थर फूटे तूफान आए छा तब घन घोर घटाए छा तबोर घटाए धरतिकम पब घबराए धरतिकम पब घबराए टूट पड़ा अपमार टूट पड़ा अपम जीवन पुनरुत्थान मसीहा जीवन पुनरुत्थान मसीहा जीवन पुनरुत्थान जीवन पुनरुत्थान जीवन पुनरुत्थान